इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि तपस तप का फल बता रहे हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर ये पंच नियम है उनमें से दो का विचार हो गया शौच का फल क्या है और संतोष का फल क्या है तप का फल बोलता है तपसा इदम फलम किम इंद्र सिद्धि अशुद्ध क्षया तप के कारण से अशुद्धि का क्षय हो जाता है अशुद्धि क्या है आवरण और मल ये दोनों का क्षय होने से काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धियां प्राप्त होता है काय सिद्धि मने अनिमा लगिमा गरिमा इत्यादि जो होता है शरीर को छोटा सा छोटा कर देना बड़ा से बड़ा बना देना भारी से भारी और हल्का से हल्का ये सारी जो सिद्धियां होती हैं वो काय सिद्धि कहे जाता है और इंद्रिय सिद्धि यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर का देख रहे हैं यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं अमेरिका में वो जो बदमाश क्या कर रहा है या कोई आपका अपना आदमी क्या कर रहा है भगत जगत ये बैठे देख रहे हैं कौन कहा गा रहा है वहां जागने की जरूरत नहीं यहाँ बैठे बैठे सुन लिया संकल्प किया वहां क्या गाना गा रहे हैं कौन गा रहा है बस सब यहीं से हो गया वो इंद्रिय सिद्धियां ये काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धियों की प्राप्ति होती यही सबसे बड़ा बेकार काम तब का जो फल सबसे खतरनाक है ये सिद्धियों को आदमी दिखाया नहीं लगता है लेकिन माँ सिद्धि हल्का हो गया हवा में उड़ रहा है देखो हो योगिक फ्लायर्स नए योगी का योगिक फ्लायर्स फ्लाइंग योगीस ये सब क्या होता है कि उसमें लोगों के प्रभाव पड़ता है चमत्कार को नमस्कार होने लगती है तो फिर माया में जाल फंस जाता है ये जितने भी सिद्धियां हैं चाहे काय सिद्धि हो चाहे इंद्र सिद्धियां हो ये सब ये सब जो है नुकसान है मोक्ष मार्ग में बाधक निर्वर्त्यमान तब इनस्ति अशुद्धि आवरण बलम जैसे आप संपाद्यमान जो तप है निर्वर्त्यमान में संपाद्यमान जो तप है वो क्या करता है इनस्ति किस चीज को नाश करता है किसका नाश करता है अशुद्धि अशुद्धि का नाश करता है अशुद्धि क्या है आवरण मलम आवरण च मलन आवरण मलम आवरण और मल दोनों को नाश करता है तद आवरण मतलब अपगमात काय सिद्धि अणिमात्या तथा इंद्रिय सिद्धि दूरा श्रवण दर्शनाद्या इसलिए काय सिद्धि क्या है अणिमादि और इंद्रिय सिद्धि क्या है दूर से श्रवण दर्शन इत्यादि जो होते हैं वो इंद्रिय सिद्धि कहा जाता है और ये शुद्धि कैसे होगी जब अशुद्धि का क्षय होता है मैंने शुद्धि होती है ये तो वह हुआ ना अशुद्धि का क्षय का तात्पर्य है शुद्धि में तो शुद्धि किसकी होगी क्या काय की शुद्धि असंभव इंद्रिय शुद्धि स्वतः शुद्ध है उन्हें क्या शुद्ध करोगे इसे न यहाँ पर काय शुद्धि से तात्पर्य है न इंद्रिय शुद्धि से तात्पर्य तात्पर्य क्या है आवरण और मल का अपगम से ये आवरण और मल है कहा ये चित्त में है और नाड़ियों में नाड़ियों में है मल और चित्त में है आवरण और वासन रूपी मल चित्त में रहेगा वैसे तो भौतिक रूप में भी मल जो है नाड़ियों में होते हैं यही सबसे वो नाड़ी शुद्धि ही इसलिए आवश्यक है नाड़ी शुद्धि के बिना आवरण मल का क्षय नहीं हो सकता अच्छा तप के द्वारा आप नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं तप के द्वारा नाड़ी शुद्धि होगी नाड़ी जैसे शुद्ध शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे आपका जो है अध्यात्म विकास होता है चक्रों का जागरण होता है चक्रों की अनुभूति होने लगती है चक्रों का जो है समय संचालन पूर्वक प्राण का समय गति दे सकते हो तो उससे क्या होगा चित्त में आपकी एकाग्रता बनेगी जो चित्त में एकाग्रता बनेगी चित्तस्थ जो मल है वासनाएं और चित्त का आवरण ज्ञान अविद्या दोनों में लक्ष्य वहां तक पहुंचाने के लिए संकेत कर दिया मूल आधार नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि का दो प्रक्रिया है एक समनु और निर्मनु प्रक्रिया समनु प्रक्रिया क्या है मंत्र विशिष्ट प्राणायाम मंत्र विशिष्ट प्राणायाम उसको समनु नाड़ी शुद्धि कहते हैं और निर्मनु नाड़ी शुद्धि क्या है षटकर्म षटकर्म है ना हाँ नेति धोती नौली बस्ती त्राटक ये षट कर्म के द्वारा भी नारी शक्ति है षट कर्म का अनुष्ठान करना एक बहुत बड़ा तप है मंत्र सहित प्राणायाम करना एक बहुत बड़ा तप है इस तप से या तात्पर्य नाड़ी शुद्धि का साधन पूर्व में भी कहा गया था यद्यपि तब के अंदर क्या ज्ञान प्रकाश सब ले लिया ना प्रकाश हमको भी दिया वो तो अत्यंत स्थूल बात है और यह अशुद्धि क्षय तक फल जो बता रहे हैं इसे स्थूल तप होता व्रताजियों से लेकर के सूक्ष्म तप रूप नारी शुद्धि के साथ जब आगे व्यक्ति योगी होता हो स्थिति पहुंचता है तो उस योगी का फल है ये काय सिद्धि काय सिद्धि और केवल व्रताजी अनुष्ठान से होता नहीं केवल व्रताधि अनुष्ठान रूपा तप सामान्य से होता नहीं इन समनु अथवा निर्मणु प्राणायाम के द्वारा समनु प्रक्रिया प्राणायाम की है निर्मनु क्रिया की है छठ कर्मों का इन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को अपना करके जब तक व्यक्ति नाड़ी शुद्धि नहीं करता तब तक जो है अशुद्धियों का क्षय नहीं होता इसे तप स्थूल तप हो गया व्रताधि के पूर्व में चर्चित है सूक्ष्म तप हो गया समनु प्राणायाम अथवा निर्मनो षट क्रिया इन्हीं के द्वारा ही आगे बढ़ने के लिए यह संकेत कर दिया अशुद्ध इच्छा शब्द के द्वारा स्वाध्यायादिष्टोदा संप्रयोग स्वाध्याय से क्या फल मिलता है वो स्वाध्याय क्या है स्वशास्त्र अध्ययन स्वशाखादि का अध्ययन अथवा प्रणय जपो वा मंत्र आदि के जपों को लिया गया स्वाध्याय इष्ट देवदा संप्रयोग स्वाध्याय से जो आपके अपने इष्ट देवता है उसके साथ मिलना बातचीत करना उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सब हो सकता है स्वाध्याय से सिद्धि प्राप्त होती है देवा ऋषि सिद्धाश्च यहाँ देवता से तात्पर्य केवल देवता नहीं लेना ऋषि हो सिद्ध हो जो भी हो वो सारी चीजों के साथ स्वाध्याय शील दर्शन स्वाध्याय शील योगी को इन सब का दर्शन आदि की प्राप्ति होती है कार्य चौसे वर्तन है नहीं इस योगी जो चाहेगा उन सब काम करा भी सकता है वैसे स्वाध्याय करने वाले योगी के अधीन हो जाते केवल उनका दर्शन होता है उनसे वार्तालाप होता ही नहीं आप जो कहेंगे वो वो करेंगे अस्य योगिना सर्वे कार्य सभी कार्य वर्तनते योगी का कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं उन्हीं की कृपा से समझो या उनके माध्यम से समझो उनके माध्यम से भी करा लेगा या उनको इतना प्रसन्न कर दिया सोते तो कृपा के द्वारा सब कार्य सिद्ध कर डाले ये तुलसीदास जी का बार वर्णन नाथ है ना इतने स्वाध्यायशील थे रामायण पाठ करते करते करते ना स्वाध्याय में निष्ठा हो गया था उनको तो उनकी झोंपड़ी का रखवाली करते थे भगवान राम और लक्ष्मण ऐसे वर्णन आया है उनकी जीवन में वो जब सोच जाते थे गंगा पार तब यहाँ पर जो है रखवाली करते दो चोर आए वो लंबी चौड़ी कहानी तो उन दोनों को दर्शन वाले तुलसीदास तो कभी नहीं दिखाई दिए थे तो उन दोनों को दिखाई दिए सब जगह वही खड़े हो रहे जहाँ देखो वही दिख रहा है बांडे दोनों खड़े हैं तभी उन्होंने झोंपड़ी को आग लगाई चला ऐसे काम करवा रहे हैं भगवान से तो पता चला तो इस प्रकार से जो है इष्ट देवता जो है आपका कार्य स्वतः कृपा से सिद्ध कर सकते हैं आप उन्हें प्रार्थना करें उन्हें आदेश दें कोई जरूरी नहीं है इसलिए योगी का सकल कार्य जहाँ बैठा वहीं सब सिद्ध होते जाता है स्वयं ही वो लोग करते जाते वो सब सेवक बन जाते चाहे वो ऋषि हो चाहे सिद्ध हो चाहे देवता हो चाहे स्वाध्याय निष्ठा रखो सब कार्य सिद्धि हो जाती है और ईश्वर प्रणिधान का फल क्या समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है कौन सी समाधि संप्रज्ञा समाधि समझना नहीं तो यदि इसी से ही असम प्रज्ञात हो जाए असंप्रज्ञात उसी तो धर्म में समाधि भी होने लग जाए फिर तो आगे गंगों की जरूरत क्या यह और नियम की बात खत्म हो गई फिर आसन प्राणायाम सब क्यों बता रहे हो आप आगे के अंग निरर्थक हो जाएंगे इसलिए आगे के अंगों का जो समन्वय करने है तो यह समाज से क्या लेना है संप्रज्ञा समाधि लेना है असंप्रज्ञा तो कोई अवस्था को नहीं लेना यदि ये तीन समाज की किम अन्य रंग चेत आह अस्य संप्रज्ञा समाधि फलम अस्य मैने ईश्वर निधान से फलम संप्रज्ञा समाधि रेव तो फिर इसका मतलब क्या है तत्स्य अंतरंगम अन्यषा बहिरंगम दृष्ट द्वारे इसका तात्पर्य है कि ईश्वर प्रणिधान अंतरंग अंग है अन्य सब अंग नियम नियम के आपने जो नौ पढ़ा है वो बहिरंग अंग समाधि सिद्धि में संप्रज्ञा समाधि की परिपक्वता के लिए ईश्वर प्रदान प्रधान अंग इसलिए अंतरंग साधन हर एक कार्य के आपने देखा है अंतरंग साधन बहिरंग साधन तो होते ना ज्ञान के बारे में चर्चा हुई तो गीता जी ने बताया अंतरंग साधन अलग है बहिरंग साधन अलग तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा बहिरंग साधन बताया गया श्रद्धावान लभदे ज्ञान संहित इंद्रिय ये अंतरंग साधन बताया गया तद्वत यहाँ पर भी तो इस संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति में ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधने और बाकी सब के सब बहिरंग साधने तो फिर आसनादियों के बारे में क्या होगा फिर कहते आसन आदि वो दृष्ट द्वारा और यमादि अदृष्ट द्वारा आसन आदि उत्तरवर्ती जो छह अंग है वो दृष्ट फल नहीं है उसका नहीं उनका दृष्ट फल है दृष्ट द्वारा ही वे हमें समाधि को उपयोगी बनते कौन आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार ये सारी चीज आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान समाधि ये जो चीजें हैं संप्रज्ञा समाधि का दृष्ट दृष्ट फल प्रदान करने और यम नियम क्या है अदृष्ट यद्यपि आसन आदि तो कहेंगे दूसरे पक्ष वाले नहीं नहीं भय रूपा है दृष्टा दृष्ट उभय रूपेण आपका समाधि उपयोगी होता है और यम नियम केवल अदृष्ट द्वारा यम और नियम दोनों केवल अदृष्ट पैदा करते हैं आपके जो आपने सत्य बोला उसे क्या हो सीधा साक्षात समाधि में उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई देता है तेना आपने सत्य का उससे का पूर्व पैदा पुण्य हुआ उस पुण्य का नतीजा हुआ कि आपके अंतकरण विद्यमान जो मल थे वासनाएं थे पाप थे क्षय होते तो अदृष्ट द्वारा आपको समाधि उपयोगी चाहते है चाहे ब्रह्मचर्य है चाहे हिंसा है जितने भी शौच संतोष वगैरह ये सब अदृष्ट द्वारा हमें समाधि उपयोगी अन्य जो योगांग है असमाधि और दृष्टा दृष्ट वह द्वारा समझना चाहिए इसके लिए एक न्याय में एक अस्तु उभय संयुग पृथक एक न्याय जीवन न्याय मीमांसा में एक ही दो दो काम कैसे कर देना कभी होता है अग्निहोत्रम ज्योति दधना ज्योति दधनेन्द्र कामस जुहियात ये तीन मंत्र जिस पर विचार हुआ अग्निहोत्र होम करो उससे पहले फल बता दिए अग्निहोत्र जुहियात सर्व काम सर्व में फल के लिए अग्निहोत्र हवन की अग्निहोत्र संजय हवन किसे करें हम दधना ज्योति दही से हवन करो फिर वही नीचे दूसरा वाक्य आता है दधना इंद्रिय से जुहियात अभिवाद विवाद हो गया दही से हवन करोगे तो इंद्रिय रूपी फल मिलेगा इंद्रिय पुष्टि रूपा फल और उधर दही को किसने बताया अग्निहोत्र का साधन होता हुआ स्वर्ग का फल अब एक एक दो फल बताया कि नहीं आपने अग्निहोत्र याग में दही का प्रयोग करने से उस दही का प्रयोग करने का फल उधर स्वर्ग तो देगा ही और साथ साथ इंद्र पुष्टि भी बता दिया आप पूर्व पक्ष तो कहेगा अरे महाराज इंद्र पुष्ट तो सीधी सी बात है खाएगा तब ना इंद्र पुष्ट होगा दृष्ट फल है अदृष्ट नहीं अदृष्ट स्वर्ग है दृष्ट खाने के द्वारा इंद्र पुष्टि ऐसे पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत नहीं एक तो भयत्व संयोग पृथकम न्याय संयोग पृथक न्याय भी शब्दों से कहा जाता है एक तदना एक दही नाम की जो साधन था वह उभयत्व मैंने कर्तृत्वता भी है पुरुषार्थता कर्तृत्वता अग्निहोत्र का अंगत्व न अग्निहोत्र रूप यज्ञ के स्वरूप का संपादन करने में एक सहयोगी साधन हो गया उसको कर्तृत्वता कहते हैं और पुरुषार्थ का भी साधन हो गया इंद्रिय काम रूप पुरुषार्थ विशेष के लिए फलप्रदायक भी हो गया जैसे कई बार होता है जुकाम दूर हो जाती है ऐसे ऐसे लोग गुग्गुल ला लेते हैं या उस क्या बोलते हैं धूप धूप जला धूप जलाने से सारा खांसी जुकाम क्लियर हो जाता है फल मिल रहा और पूजा का अंग भी हो गया पूजा पे है ना पूजा के लिए धूप तो जला दिए जुकाम दूर करने किया था आपने तो पूजा के लिए जलाया लेकिन पंडित का जुकाम दूर हो गया <laughs> लाभे लाभ तो कर्तव्य भी है पुरुषार्थ भी है एक संयोग पृथक न्याय है वहां संयोग का तात्पर्य वहां वो भैया तो उभय बोधक विधि वाक्य संयोग का तात्पर्य उभय बोधक विधि वाक्यों के वजह से पृथकम भिन्न फलोत्तम भिन्न फल मानी जाएगी इसको वेदांत में कई बार लगाते हैं ये पृथक न्याय न्याय दर्शन में भी जगत का प्रयोग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय में से है संयोग पृथक न्याय अच्छा देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं ईश्वरार्पित सर्वभाव से समाधि सिद्धि यथा सर्वम ईक्षितम अवितम जानाती देशांतरे देहांतरे कालांतरे तत्व से प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाती थी ईश्वर में सर्वभाव से सर्व कर्मों को अर्पित करने वाले योगी को समाज सिद्धि होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है सभी जो अभीक्षित सर्वम ईप्सितम जो कुछ उसके द्वारा अभिष्ट विषय है उनको वो देहांतर का विषय हो चाहे देशांतर का विषय हो चाहे कालांतर का विषय हो उन सब में उसको सम्यक विषयों को उस योगी के प्रति प्राप्त हो जाता है वह योगी उनको यथार्थ रूप से जान लेता है अवितथम विशेषण देखिए सर्वम अभिषम अविथतम जाना देशांतरी हो देहांतरी हो कालांतरीय वस्तु भी क्यों न हो उन सकल वस्तुओं को अविथत मैंने अमिथ्या मैंने यथार्थ न अपने अविष्ट पदार्थों को जानने की क्षमता उस संप्रज्ञा सिद्धि को प्राप्त किया हुआ योगी के पास होता है उसे क्या लाभ है जी तत्व से प्रज्ञा अतः उसकी जो प्रज्ञा है उस योगी की जो प्रज्ञा है वो यथाभूतम प्रजाना थी यथाभूत विषयों को जान लेता है उसी हिसाब से वो सतर्क दुरुपयोग भी हो सकता है सदुपयोग या तो सब अच्छी दृष्टिकोण से बोल देते हैं लेकिन उस हर चीज का नेगेटिव विपरीत ये जान लिया आप क्या आप कल क्या करने वाले हैं कल आपको क्या लाभ होने वाला है उसको पहले जान लिया तो क्या करेगा दुष्टता करना अच्छा है उसमें आग डालेगा होने नहीं देगा अपना लाभ उठाने पहले पहुंच जाएगा जैसे तक्षशिला ने किया तक्षशिला जो है रा, राजा ने किया ना कर्ण के खिलाफ कर्ण जो है रोज सवेरे पांच बजे चंडी स्थान जाते थे वहां जो है तेल की कढ़ाई में से सोना निकालते और कर्ण चौरा एक जगह था उसके ऊपर खड़े होकर के दान देते विक्रमशील को बड़ा आग लगी तक्षशिला का राजा विक्रमशील को उसने देखा कर्ण के नामी नाम दुनिया में सब लोग वहां भागते हमारे यहाँ राज्य का सब ब्राह्मण भी चले गए वहां दान पुण्य लेने के चक्कर में तो कैसे उसको विफल किया जाए उसने सारा टाइमिंग सब पता लगा लिया पता लगा करके वो पांच दस बजे जैसे चार बजे चला गया और कर्ण का जैसे सब भूषा बना करके सारे पहरेदार उसको जो कर्ण आगे मान करके कैसे आगे जल्दी पता नहीं आ गए क्या कर राजा से थोड़ा पूछा जाए क्यों आए आप जल्दी वापस जाओ इतने कहेंगे ना तो पहरेदार क्या कर वो सोचे कर नहीं आया है वो उठा करके चला गया उसके बाद असली करण आया अब अभी क्या पहरेदार देख रही क्या हो गया दोबारा क्यों आ रहे शायद ज्यादा माल बांटना चाहते होंगे और क्या सोचेंगे पॉजिटिव तो सोचना है ना नेगेटिव तो सोचते हैं नहीं उन्हें क्या मालूम वो असली नकली तो असली है कारण है उन्हें जरिए छोड़ दिए वहां गया तो कहा वहां तो कुछ मिलना तो था तो, तो जल के मर जाता लेकिन देवी जी कृपा हुई जैसे कड़े पर एक पैर रखा कड़े फलट गया था क्या हो गया चमत्कार और ऐसी आग तेल तो जाएगा ना नीचे पलटने से आग बहुत तेज दौड़ आकार में सब इधर इधर भीतर भाग गए फिर कर्ण जो है फिर तक क्या हुआ ऐसे क्यों हुआ समझ में नहीं आया नीचे लोगों के पास गया भाई क्यों लोग आज पलट गया कहीं सब ठीक ठाक तो था नीचे जाके देखता दो आंख दिखे जहाँ आग लगाते थे ना वहां दो आंख वही देवी के आंख छप्पन पीठों में से एक पीठ है चंडी पीठ मुंगेर शहर में है मुंगेर बिहार में चंडी स्थान वहां दो अंक मार्ग दो अंक वहां गिरा था उसी के ऊपर वो कढ़ाई पर रखते थे नीचे आग लगा देते और उनका कर्मचारियों को पता नहीं किया ये शक्ति पीठ है उसी शक्ति की कृपा से उसको सोना करते वही शक्ति ने उसे रक्षा की फिर आकाशवाणी हुई मैं इस स्वरूप में हूँ मेरी तुम नित्य पूजा करोगे तो भी तुमको वही फल मिलेगा फिर बिना तेरी कड़ाई का सोने मिलने लग गया उसे जिसे पहले से जानकारी मिलने से यदि कोई भी वस्तु का आदमी का बुद्धि पहला शैतानी का काम सोचता है मालूम हो जाए तो आग लगा हम देख रहे हैं एक छोटा सा जमीन खरीदने जाओ वो पता लगे दूसरे को उसमें आग लगा देता है जिनको न मिलेंगे ये न बसे यहाँ पे न जाए ऐसे ऐसी दुनिया में तो <laughs> हाँ साधु का वैसे भी रहते हैं बहुत भयंकर यहाँ रहने से उन्हें संतुष्टि जा रहे हैं तो वहां भी नहीं जाने देना है क्या विचित्र नहीं नहीं यहाँ रहने नहीं चाहते वो बड़े विचित्र है मैंने उनका लक्ष्य है ना कि जय तो हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाए ये वो चाहते हैं असली बात है हाँ, हाँ। ऊपर नहीं सीधा ऊपर ऐसे दुष्ट भी हाँ। तो इसलिए ये योगियों को पहले से कोई बात जानकारी हो जाए ना वो अच्छा भी है बुरा हाँ जोगी है तो खतरा है योगी है तो ठीक है योगी है तो फंसेगा नहीं ना वो जोगी लोग फंस जाते हैं तो इससे क्या होता है तो दिलीप से कह रहे देखिए पूर्व पुराण के श्लोक दे रहे हैं ब्रह्मचर्य अहिंसा च क्षमा शौचम तपोदम संतोष सत्यमास्तिक व्रतांगानी विशेषत एक नाप्यतहीन व्रतम मस्य तो लुप्यते ब्रह्मचर्य व अहिंसा क्षमा शौच तप दम संतोष सत्य आस्तिक ये सब आपके यम और निम व्रत के अंग इन अंगों में से एक से भी हीन भी हो जाता है तो उसका व्रत का लोप हो जाता है उस पूर्वोक्त कथित जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त नहीं होती ये उसे मैं ब्रह्मचारी पक्का रोकर सो झूठ बोलते रहूंगा उसे कोई सिद्धि नहीं मिलने वाला है न लक्ष्य प्राप्ति होगा न सिद्धियां न माया मिली न राम वाली बात जब पालन करना है तो दसों अंगों को पालन करना है नहीं तो जैसे वैसे ही रह जाओ वो ज्यादा ठीक नहीं इसलिए कहते हैं कि पूर्व पुराण का स्पर्श जान बुझ कर दिखाया ये न सोचे मैं एकाध अंग को अनुष्ठान करते रहूंगा बाकी अंगों को महत्व नहीं दूंगा ऐसे करोगे तो इसका कोई फल नहीं होगा इस प्रकार से दशांग रूपा दो दस अवयवों से संपन्न दो अंग यम और नियम पर विचार पूरा हो जाता है अब आते उसके अगला अंग है आसन स्थिर सुखम आसनम स्थिर सुखम आसनम आसन क्या चीज है जो स्थिर रहे और सुख थे कंपन से रहित सुख से युक्त जो शारीरिक स्थिति है उस स्थिति का नाम आसन ये नहीं भी आप टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं क्रिया हो करते रहते वो नहीं आसन जो व्यायाम है आसन थोड़े आसन वो है जो स्थिर एक स्थिति में आप पहुंच गए और वहीं स्थिर रही जितने देर रह सके फिर उसे निकला तो उसकी विपरीत स्थिति में जाइए उसे जितनी देर रह सके रहिए अर्थात जितनी देर इसमें रहे उसके विपरीत से उतनी ही देर रहनी चाहिए तभी आसन का असली लाभ होता है लोग ये नहीं करते कराम दिखाना ना दुनिया को ऐसे टेढ़े मेरे मैं देखो इतना आसन कर लेता हूँ ऐसा कर देता हूँ वैसे कर हूँ उन्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला वो योग से रोग होगा योग से रोग होगा रोग का निवारण करने के लिए लोग योग का प्रयोग करते हैं लेकिन योग से भी रोग जब पैदा हो जाता है तो उसका निवारण कोई तरीके से नहीं कर सकता साफ दवा दर विफल तो योग के आसन केवल शरीर मात्र से संबद्ध नहीं होते उनका संबंध चक्रों से सुख शरीर से और बिगड़ गया कहीं असंतुलन उसमें असंतुलन असंतुलन आ गया फिर तो सदा के लिए असंतुलित हो जाओ इसे नियम है शीर्षासन किया आपने उसके विपरीत आसन ताड़ासन किया आपने चक्रासन किया है धनुरासन किया विपरीत आसन होगा और जितने समय को किया है कोशिश है उसके बराबर समय दूसरे को करनी चाहिए ताकि एक प्रकार है ना जो खून का शक्ति का प्राण का संचलन जो हो रखा है ठीक उसको विपरीत प्रकार से संचलन होगा तभी उसका संकलन बन इस चीज पर लोग न योग सिखाने वाले ध्यान देते हैं न करने वाले ध्यान देते न पुस्तकों में लिखा जाता है इसलिए योग भी विफल हो रहा है स्थिर सुखम और प्रमुख कितने हैं वो किनारे तद यथा नामों को बता रहे इसकी व्याख्या कुछ नहीं पद्मासनम वीरासनम भद्रासनम स्वस्तिकम दंडासनम सोपाश्रय पर्यंगम कौंच निषदनम हस्ति निषदनम पुष्ट निषदनम समसंस्थानम सिर सुखम यथा सुखम इतम आदि की पद्मासन है सबसे पहले जो आप जानते कमल के समान जीवन को बनाने वाला आसन का नाम पद्मासन है कमल कैसा होता है पद्म पत्र में वाम बसा जिस प्रकार से कीचड़ में रहता हुआ जल में रहता जल से असंबद्ध है उसे संसार में रहता हुआ संसार भी कीचड़ में रह रहे हैं और संसार का सुख दुख भी लहरों के बीच में रहता हुआ जीवन पद्म के समान कर हो जाए एक दर्थ जो आसन उसका नाम पद्मासन कैसे लगाते वो तरीका मुख्य नहीं है उसका लक्ष्य को जानना मुख्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए पद्मासन का अभ्यास करना वो महत्व उसमें भी संतुलित करने के लिए एक बार एक तरफ से दूसरी बार दूसरी तरफ से पद्मासन करना अर्थात पहले दाया पर को ऊपर रख लिया जांग के ऊपर तो बाएं उसके ऊपर आ जाएगी फिर उसके दूसरे बार में बाया को पहले रखो ध्यान उसके ऊपर लाओ समय समय पूर्वक इसका संतुलन करने वाला अस्य पद्मासन से उसका लक्ष्य भूत है जो संसार से असंबद्धता रूपी चित्त की क्षमता को प्राप्त कर सकता है वीरासनम बहुतों का ब्रह्मचर्य की समस्या होती है है ना उसके लिए वीरासन सर्वश्रेष्ठ आसन अर्ध पद्मासन जैसा लगता है ये देखने में लगभग अर्ध पद्मासन के समान है अर्ध पद्मासन में भी दो प्रक्रिया इसकी की जाती है एक तो बैठे हुए से दूसरा खड़े हुए दो प्रकार से अर्ध अर्धपद्मासन करना पड़ता है खड़े हुए के विपरीत बैठे हुए करना है दोनों को करने पर ही पूर्ण वीरासन होता है उसके द्वारा अपना वीर जो मजबूत होता है और उसमें ब्रह्मचर्य पक्का रहेगा ब्रह्मचर्य जितना पक्का होता है उतना ही व्यक्ति की इंद्रियों में विद्यमान दुर्बलता मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जब तक यह दुर्बल रहेगा तब तक कोई साधना नहीं हो सकती है इसकी प्रबलता के लिए ही वीरासन का नित्य अभ्यास होना चाहिए भद्रासन भद्रासन दोनों पैरों को सामने रख दिया जाता है तलवों के सामने लाओ और उसके साथ में जो विषण के सामने में दोनों तलवों को सता कर इस भद्रासन का अर्थ है कल्याणासन भद्रम कल्याणम और कल्याण का मतलब क्या मोक्ष प्रदायक आसन इस आसन निरंतर बैठ करके लोग ध्यान वगैरह करते हैं इसीलिए लेकिन जब इसको करेंगे इसको विपरीत वज्रासन करना पड़ता है भद्रासन पैरों को सामने सटाना है और वज्रासन पैरों को पीछे सटाना है ठीक विपरीत इस संतुलन को करते रहेंगे वज्रासन के साथ वज्रासन का संतुलन करके अभ्यास करने वाले को अपना कल्याणमय जो स्थिति है वह प्राप्त हो सकता है स्वस्थिकासन स्वस्थिक का अर्थ है श्वास जो है कल्याण ये भी वही है लेकिन स्वरूप अलग स्वस्थिक का स्वरूप है और अत्यंत सुखासन के जैसा ही है लेकिन दोनों घुटनों का नीचे तरफ है तलवा है एक घुटने के ऊपर है तो दूसरे दूसरे घुटने का नीचे होता है स्वस्थिक आसन इस आसन से क्या होता है इससे भी लक्ष्य तो फल तो वही है कल्याण की प्राप्ति ये इसलिए बताया गया दो विपरीत वस्तु जो अलग अलग क्यों बता रहे साधन एक ही चीज के लिए कारण यह है किसके घुटना मुड़ता नहीं पूरा तो क्या करेगा वो भद्रासन नहीं कर सकता किसी का जो है जांघ का प्रदेश स्थूल है या किसी का कटिप प्रदेश एकदम कड़क है वो भद्रासन वज्रासन नहीं कर पाएगा उनके लिए का दंडासनम दोनों पैर सीधे सामने दंड के समान हथेलियों के ऊपर उठ के बैठना उठ के स्थिर रहना हथेली पर उठ जाना इसको होता है दंडासन ये दंडासन का भी फल वीरासन के फल के समान है ब्रह्मचर्य का पुष्टिकरण सोपाश्रयम सोपाश्रयम तो योग पटक से होता है जिनको किसी भी अन्य आसन बैठने की क्षमता ही नहीं है चौगान का इस्तेमाल करना उसको होता है चौगान एक कपड़े का टुकड़ा होता है उसको घुमा करके पीठ से लेकर के पैर जो सामने रखा जाता है आपने देखा होगा अयप्पा अयप्पा का फोटो देखा है दक्षिण भारत में अयप्पा मंदिर है भगवान होते विशेष हो देवता विशेष तो वो ऐसे ही बैठे रखते हाथ यू रखते सीधा होता है वो पीठ के लिए कपड़ा सपोर्ट देता है उसको यहाँ से यू बंधा हुआ है उसे होते चौगान बोलते योगी की भाषा चौगान हाँ, तो योग पत्तक भी कहा जाता है संस्कृत भाषा उसको इस्तेमाल करके बैठ करके जो निरंतर ध्यान आदि करने का शासन का नाम सोपाश्रयम ये तो अपने आवश्यकता के आधार पर है कोई निर्णय नहीं इन चीजों का आसनों को समयानुसार बांध के करने वाला अवश्य नुकसान पाएगा आप ये मत सोचिए कोई कर रहा है कि शीर्षासन एक घंटा तो मैं डेढ़ घंटा कर दूंगा वो सीधा पहुंच जाएगा जल्दी पागल खाने में हाँ ऐसी देखा है कई करते उल्टा उल्टा हर शरीर का हिसाब किताब अलग है आपके अपने शरीर की बनावटी अलग है अपने शरीर की बनावटी अलग है हम जितना कर सकते उतना आप नहीं कर सकते आप जितना करेंगे हम नहीं कर सकते जैसे खाने पीने में होता है वैसे इसमें आप दस रोटी खाएंगे मैं सोचू आपसे आगे मैं भी मोटा तकड़ा बने मेरे कोई बारह रोटी में खाऊंगा तो चार दिन के बाद अस्पताल पहुंच जाऊंगा हजम ही नहीं होगा ना वो ठूसने से थोड़ा काम हो गया <laughs> हजम भी तो होनी चाहिए वो किसको कितना हजम करने की क्षमता है उसी प्रकार यहाँ पर भी किस किस शरीर में कितनी आवश्यकता है किस आसन का वो तो अपने ही अभ्यास से धीरे धीरे पता लगता है इसे शुरू में सतर्क करने का ज्यादा मत करो थोड़े थोड़े करो और फिर देखो कौन सी आसन में आपका मन की स्थिति कैसी थी शरीर का किसी कैसे था कंपन आया कि नहीं आया स्थिरता भंग हुआ कि नहीं हुआ अनायास सुखपूर्वक थे या नहीं थे सुगम इसलिए में तो कहे ना स्थिर सुगम यथासुकम इसलिए अंत में कहेंगे भाषिका तृप्त पूर्वक सुख ही नहीं और यथा सुखम चाहिए जितनी समय में आप सुख पूर्वक कंपन रहित बैठ सकते हो वो अपने लिए आप टाइम निश्चय कर लेना देखा देखी ये सब विद्या नहीं चलती देखा देखी करने वाले को नुकसान नहीं अब अयंगार महाराज है वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते ही बड़ा विचित्र इस उम्र में बुढ़ापे में सत्तर अस्सी उम्र में बड़े विचित्र विचित्र हो जाता है वो शरीर है ये क्या है समझ में नहीं आता ऐसा लचीला बना दिया है उन्होंने डब्बड़ जैसे घूम जाता है बुढ़े अभी उनकी जाए सीढ़ी को नया नया को तो देखो कैसे ऐसे से विचित्र बना दिया इस उम्र में भी कहीं भी हड्डी में कड़कपन तो नहीं लचीला है अब उनका देखा देखो तो करोगे तो तुम पहुंच जाओगे जल्दी जोली ग्रांट में हड्डी टूटेगी कहीं ना कहीं है ना मजमा से जल्दी जिसने खींचा था पैर जोर से पहुंच गया था छह महीना परेशान था तो हो जाए ऐसे भी योगी राज है इसीलिए आपने जितनी बस है जितना है समझो अपना शरीर को हिसाब से करो शरीरम माध्यम करो धर्म साधनम शरीर ही नहीं टिका गड़बड़ा गया फिर क्या आ गया और साधना करोगे इसे इन चीजों का नियमावली नहीं होती साधना में किसको कितना करना है कोई नियम नहीं एक नया महाराज हमको कितनी प्रसन्न करनी चाहिए गायत्री का मैंने कहा जितना तेरा जन्म बीता उतना कर लेना हर एक जन्म जितने पाप के क्या मालूम मेरे को इसको ठिकाना है किसको तीन पे ज्ञान हो गया किसको आठ में नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते इसे तब तक करो जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति सही कोई भी चीज चाहे जप है चाहे ध्यान है चाहे जो भी चीज होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कि समय सीमा क्रिया की तरीका में सीमा गति में सीमा नहीं की जा सकती हम प्राणायाम कर रहे हैं जितना वेग से उतनी वेग से आप करोगे तो मुश्किल पड़ेगा कहीं तो हार्ट अटैक हो जाए हम जिम्मेदार थोड़े ऐसा नहीं होता एक बार ऐसे धनबाद में हम लोग थे वहाँ योग शिक्षा दे रहे थे कोयला कोल माइंस वालों को उनके एक विद्यालय वहाँ कोल माइंस स्टडी सेंटर वहाँ पर और वो लड़कों ने कहा स्वामी जी आप तो हम बताते आप बना करके दिखाओ हमने कहा ठीक है लेकिन नकल नहीं करना पहले बता रहा हूँ तो करके दिखाया दिखाने के तो बहुत गजब करते हैं हम भी करेंगे और हमें बताया नहीं वो कमरे में जब गया आप खूब जोर लगाई जोर लगाया तो यहाँ के एक नस उसका बेहोश हो गया और लेगा अस्पताल अस्तान के भागे आप जनवाद में तो इतना उत्कृष्ट अस्पताल नहीं उन्होंने कहा टेम्पोरी तो एड करके भेज दिया आसनसोल जाओ आसनसोल में यहाँ नहीं होगा वहां से कलकत्ता जाओ बस जिंदा लौट गया बस फिर बाद से बहुत पूछा तो उसने बोला कि वो हमने किया था मैंने कहा हाँ, ये हुआ ना फिर हमको बुलाया स्वामी जैसे इसने कर दिया क्या करे इसको हमने कोई बात जो हो गया सो हो गया आगे सतर्क रहो और जैसे बताओगे तुम्हारे लिए जितनी बता रहा उतनी तुम करो हमारे जैसे करने की कोशिश में रिजन करके दिखाते नहीं जाते लोग वैसे कर देते हो लोगों के अंदर एक गलत आदत दूसरा कर उसके जैसे मैं भी करूं ऐसा नहीं होता योग में योग किसी भी साधना में दूसरे का नकल किसी भी साधना में नहीं करनी चाहिए तो विफलता निश्चित है उसमें इसलिए यहां पर कहते हैं और कौन से आसन पर्यंक आसन पर्यंक मने शव पलंग सवासन सवासन के मुर्दे से लेट जाना दोनों हाथ अगले बगल में हथेलियां ऊपर की ओर थोड़ा पैरों को फैला के दूर रखो हाथों को भी शरीर को स्पर्श नहीं करना ऐसे थोड़ी दूरी दूरी रखता हुआ जो लेटने का नाम सवासन से क्या होता है शवत मन की चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है शव में है पाल है क्या तद चित्त की श्रद्धा के लिए शवासन का अभ्यास है और श्रद्धा तब भी नहीं प्राप्त होती तो क्या करना अगला सूत्र में बताएंगे श्रद्धा पाने के लिए क्रौच निषेधनम हस्त निषेधनम उष्ट निषेधनम ऐसा लेख ऐसे आसन मिलेंगे आपको इस तरह से जो दो तीन संकेत किया चौरासी लाख आसन इसे सिद्ध हो गया कितनी आसन है चौरासी लाख जितनी योनिया है कितनी योनि संसार में चौरासी लाख योनिया हर योनि का अपना जो पूर्ण विश्राम स्थिति है पूर्ण विश्राम प्राप्त जिस स्थिति में प्राप्त करता है हर पशु अपने अपने ढंग से लेटता है गाय देखो कैसे लेटा हुआ कुत्ता देखो कैसे सोता है हर का अपना अपना विश्राम तरीका अलग अलग है सुस्थिरता चित्त में शांति सुख प्रेम भाव से विश्राम को प्राप्त किया हर योनि की स्थिति अलग अलग है कोई खड़े खड़े सोते घोड़े है ना खड़े खड़े सोते हैं है नहीं बैठे सोएंगे वो नहीं कभी नहीं खड़े खड़े ही सोते हैं यही तो विशेषता है इसलिए हम कहते हैं जो मनुष्य खड़े खड़े सोता है उसका तो घोड़ा था चले जन्म संस्कार है ना अत्यंत पूर्ववर्ती का संस्कार ज्यादा होता है और सभी के अंदर एक के संस्कार तो मजबूत है ही है बंदर की संस्कार किसके पास नहीं है तो कहने का मतलब हर योनि का अपने जो विश्राम स्थान है ना उस उसी को एक आसन के रूप में आप उसी आकार में अपने शरीर को स्थिर करना वो एक आसन इसे हस्त निषद्रम कांच निषद्रम पुष्प निषद्रम इत्यादि इत्यादि बहुत हो गए सम कह दिया संस्थान कहा जाता है इसमें जहाँ पार्षण और अग्रभाग का अंकुंचन करते हुए परस्पर संपीड़न पूर्व उपवेशन कर देने का नाम वज्रासन जैसा ही है लेकिन थोड़ा इसके अंतर ये होता है वज्रासन में आप सीधे दोनों एडी पर अपने नितंबुंग को स्थापित करते हैं एडी पर नहीं करता हुआ फैला दो एडी उसके बीच पर नितंब को स्थिर करते उसको कहते हैं सम संस्थान स्थिर सुखम वह क्या कर रहे हैं स्थिर सुखम ने यथा सुकंच इत्यमादी इस प्रकार अनेक आसन होते हैं सब प्रमुख इन्होंने करीब आठ दस गिनाए हैं और अन्य शास्त्रों में केवल पांच ही माना गया जैसे हटियोग प्रतिपिका में केवल पांच आसन को महत्व देते हैं पद्मासन स्वस्तिकासन वज्रासन वीरासन और भद्रासन केवल पांच आसन हठयोग प्रतिपिका में विशेष ध्यान दिया गया है आश्रित अनिल तक्ष जीवित दो प्रकार के माने बाह्यम दूसरा साइलेंट बाई क्या है चैलाजन कुशोत्तरम आसन चैल अजिन कुछ को आसन बोलते हैं ना जो बैठे कपड़ा है लगाए इसको आसन नहीं बोलते और इसके बिना चलते भी नहीं बहुत सारे तो, जिनको एक पद विशेष बिठा दी जाती है वो बिना आसन कर जाते हैं पूरे आसन ले जाने वाले साथ में जरूरत पड़ता है है ना आसन धारी तो वो आसन भी एक आसन है ना वो भी एक आसन है इसे चैलाजन कुशोत्तर वर्णन भी किया चैल अजिन कुश उत्तरोत्तर रखनी चाहिए ये गीता जी भी जो कथन किया वो बाह्य आसन है और एक शरीर आसन है जो यहाँ पर शरीर को स्थिरता में स्थापित करने का विशेष स्थिति में स्थापित करने का होता है इन्हीं आसनों का यहाँ सूत्र है ये जो सूत्र है वो बाह्य आसन का नहीं है चैल अजिन कुश पहले कुशा कुशा के ऊपर अजिन अजिन के ऊपर चैल अजिन में भी कौन से पशु का वो अलग अलग भाग राजसिक तामसिक और सात्विक तीनों प्रकार के अलग अलग होते हैं और वह भी लेकिन मारा हुआ नहीं होनी चाहिए स्वतः रोग आदि रहित होकर के विशुद्ध स्वस्थ अवस्था में आयु की पूर्ति के कारण से मरा हुआ पशु का चमड़ा होनी चाहिए मार के जो लाया जाता है वो नहीं रोगग्रस्त होकर अत्यंत चंचल मन अवस्था में जो मरा हुआ पशु का भी चर्म सर बैठने पर आपका भी मन विचलित हो जाएगा इसलिए चरम लाने से पहले सोचना पड़ता है कौन सी चरम लाए है ना चैल अजिन कुशल इसीलिए उसके ऊपर भी सीधे किसी भी चरम पर नहीं बैठना चाहिए चैल ऊपर से कपड़ा भी डालना चाहिए ये प्रक्रिया बाह्य आसनों की बात है और शारीरिक आसन की बात कर रहे हैं इसलिए आसन दो प्रकार का हुआ एक बाह्य और दूसरा शारीरिक ओ